बनो भाइयों जरा मदन मोहन जी की आवाज में सुनिए कि ओम प्रकाश जी से उनका कैसा धूम धड़ाकेदार रिश्ता था जहारा के बनने के वक्त का वाकई मुझे याद है जी कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए हम्म। मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था जी तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे कहने लगे मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते अरे बात तूल पकड़ गई मुझे गुस्सा आ गया हम्म। और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी अरे बात उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे हम्म। मैंने कहा देखो ओम एक लफ्ज तुमने कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा <laughs> कहने के नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा अच्छा साहब मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन मगर रोशन की आदतें मदन से बिल्कुल अलग थी मदन भैया का चाल चलन अगर फौजी था तो रोशन भाई हुआ करते थे हसमुख खामोश भावुक मिलनसार बिल्कुल उनके एक गीत की तरह जिसका मुखड़ा अंतरा उन्होंने अपने घर में खुद अपनी ही आवाज में शायद कुछ बीमारी की हालत में गाकर रिकॉर्ड करवाया था इसको भी अपना साधन उसको भी अपना साधन राही है सब एक सगर के सब पर प्यार लुटाता चल इसको भी सा चल उसको भी अपनाता चल राही है सब एक जगर के सब पर प्यार लुटाता चल इसको भी अपनाता चल याद आया आपको ये किस फिल्म का गीत था हम्म, नई उम्र की नई फसल और सन चौसठ की छाओ का अगला गीत मैंने उसी फिल्म से चुना है आपके लिए आज की रात बड़ी शौक बड़ी लट सच है आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी अब तो तेरे कुछ भी जिनकी कफन तक न यहाँ पाती है और वो पर छत भी न है सर पर दिन के छत छप्पर ही जहाँ जिंदगी सो जाती है पहले इन सब के लिए पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं फिर तेरी मांग फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी आज तो तेरे अरे भाई नींदें तो मेरी गायब हो गई थी मेरे उस रेडियो सिलोन के दूसरे सफर में शुक्र है मेरी झुंझलाहटें कुछ कम करने के लिए शिव कुमार सरोज अपनी तबीयत ठीक ठाक करके लौट आए थे कोलंबो तो मुझे एक दोपहर कुछ घंटों की छुट्टी मिल गई और आ, मैं कोलंबो से कुछ दूर उस जगह जा पाया जहां मैंने सुना था कि हाथियों का जी हाँ हाथियों का बड़ा सुंदर डांस होता है तो मैंने जाकर देखा वो डांस और अगले दिन स्टूडियो जाकर मैंने आधे घंटे का एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाथियों के उस नाच पर मगर एक दिन बाद जब वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसे शिव कुमार सरोज ने सुना और वो दौड़ते हुए आगे मेरे पास और बोले अमीन भाई ये आपने क्या कर दिया हाथी तो निशान है सिंबल है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी का और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेडियो सिलोन पर हाथी का कोई गीत बजना ही नहीं चाहिए बल्कि हाथी का नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए अब तो अमीन भाई आप पर कड़ी कार्रवाई चल सकती है बच्चिए भाई मैं तो एकदम डर गया साहब मगर जब दो रोज तक मुझे गवर्नमेंट का कोई बुलावा नहीं आया ना तो मैंने सोचा कि चलो वाकई बच गए शायद मेरे प्यारे शहर कोलंबो के लोगों को ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि हिंदी में एलिफेंट को हाथी कहते हैं मगर साहब अगले दिन जब मैं रेडियो सिलोन की कमर्शियल सर्विस के स्टूडियो की तरफ जाने लगा ना तो भाई मेरे छक्के छूट गए <laughs> क्यों और कैसे ये मैं अभी कुछ मिनट बाद आपको बताऊंगा बड़ी मजेदार कहानी है 1964 की छाव में छुपे दो और गीतों और सालाना संगीत सीढ़ी की कुछ झलकों के बाद बताऊंगा पहले सुनिए उस साल के छुपे रुस्तम संगीतकार जीएस कोहली की गजब की धुन जिसे लोकप्रियता की धूप नहीं मिली और अब जरा दिल थाम कर बैठिए आ रही है एक और फैंटास्टिक धुन जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ও তোমার কোনো বাঁধন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই তোমার কোনো বাঁধন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই এই আছো ভাটায় আবার এই তো দেখি জোয়ারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ কোনো দিরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ কোনো দিরে हाँ भाई तर्ज तो यही थी जो हेमंत कुमार ने अपनी बंगाली फिल्म नील आकाशेर नीचे में दी थी 1959 में अपनी लाजवाब बंगाली धुनों को बाद में हिंदी फिल्मों में ढालना ये हेमंत आई नहीं सचिन देव बर्मन साहब भी अक्सर किया करते थे अ- बहरहाल ओ नोदी रे का हिंदी वर्जन आया था 1964 की फिल्म कोहरा में आप तो जानते ही है ना और वही है आज का अगला छाओ में छुपा हुआ गीत तो भाई माला की छाव में का ये वॉल्यूम हो रहा है क्योंकि अभी तो अरे 1964 के टॉप गीतों की कई झलकें बाकी हैं साहब कई झलकें जैसे नंबर 11 पर दूर की आवाज हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू गुड़िया मोटर रेस तो कोई लट फिरकी लट्टू कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती है और नंबर दस पर था संगम का गीत जो गीत माला की छाओ में सुनने वाले मर्दों के लिए बिल्कुल नहीं था साहब गूंजा फिल्म वो कौन थी का वो गजब का गीत जो असल में इससे कहीं ऊपर वाली पायदान पर बजने के काबिल था मगर गीत की झलक से पहले इसकी बेमिसाल हीरोइन साधना से सुनिए गजब के डायरेक्टर राज खोसला के बारे में वो फिल्में क्या बनाते हैं शायरी करते हैं सेलेलॉइड पर रोमांस करते हैं हम्म। जब तक हीरोइन को खूब ग्लैमराइज न कर लें और उसे रोमांटिक न बना वो फिल्म ही नहीं बना सकते उन्हें म्यूजिक का इतना सेंस है कि क्या बताऊं हम्म। आपको शायद नहीं मालूम कि वो खुद भी काफी अच्छा गाते हैं और जब मूड में होते हैं तो अपनी फिल्मों के गीत बड़े मजे में गाकर सुनाते हैं जी हाँ, मैंने सुना है कई बार एक अच्छा डायरेक्टर होने के अलावा वो अपनी फिल्म की एडिटिंग भी इतनी अच्छी कराते हैं कि आदमी कहीं पल भर भी बोर नहीं होता बहरौल भाइयों आजकल 2011 के शुरू में जब मैं ये वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहा हूँ राज खोसला इस दुनिया से कब के जा चुके हैं अब तो जब भी उनकी याद आती है ना तो सन चौसठ की आठवीं पायदान पे ये गीत याद आ जाता है वार्षिक नंबर आठ पर बजी थी कवि नीरज की वो यादगार कविता जो ढली थी फिल्म नई उम्र की नई फसल में सपन झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और 1964 के सॉन्ग नंबर सेवन में साहब बड़ी तारीफ थी आ, कश्मीर की कली की ये चांद का रोशन चेहरा गुल्फों का रंग सुनहरा ये झील नीली आगे कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसे ये चांद सा रोशन चेहरा कुल्फों का रंग सुनहरा ये झील की नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक और तारीफ के काबिल गीत था उस साल की छठी आधार पर फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे मेरे महबूब कब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब अच्छा बहनो भाई अब जरा जल्दी से लौटिए मेरे रेडियो सिलोन के दूसरे सफर की उस खौफनाक कहानी के उस मोड़ पर जब मैंने समझा कि भाई आज तो मेरे लिए कयामत का दिन है हुआ यूं कि हाथियों के डांस वाला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने के दो रोज बाद जब मैं रेडियो सिलोन के हिंदी सर्विस के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि बाहर दो पुलिसमैन हाथ में बंदूक लिए खड़े थे मैं तो कांपने लगा साहब कि अब तो वो मुझे अरेस्ट ही करने वाले हैं एक पुलिसमैन ने मुझे आंखें फाड़ कर ताका और गरज कर कहा शो योर एंट्री पास तो हम मैंने <laughs> डरते डरते अपना पास जेब से निकाल कर उन्हें बताया तो वो जरा नरम होकर बोला ओके ओके गोइन अंदर जाकर मैंने वहां के कुछ रेडियो वाले साथियों से पूछा कि ये ये क्या हो रहा है भाई ये आर्म्ड पुलिसमैन बाहर क्या कर रहे हैं तो पता चला कि कल रात किसी ने या तो गलती से या फिर जानबूझकर रेडियो सिलोन के एक और स्टूडियो में जलता हुआ सिगरेट छोड़ दिया था जिससे छोटी मोटी आग लग गई थी इसीलिए आज चारों तरफ सिक्योरिटी पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है का दिया गया है हो, हो तब जाकर मैंने चैन की सांस ली कि चलो सचमुच बच गए क्योंकि मैं तो उस आग वाले स्टूडियो में कभी गया ही नहीं था वरना मैं पहले तो बेकार में जेल जाता और फिर रेडियो सिलोन वाले मेरे प्रोग्रामों को बैन कर देते और टूट जाता वो प्यार का रिश्ता जो मेरा रेडियो सिलोन से था और रेडियो सिलोन का मुझसे तैयार हो जाइए 1964 की एनुअल संगीत चुड़ी की पांच सबसे कामयाब गीतों की झलकें याद करने के लिए पायदान नंबर पांच पर वो देखिए आई मिलन की बेला मगर मिलन की उम्र भी आई क्या तुम कम सिन हो नाजा हो नाजत हो बोली हो सोचता हूँ मैं तुम प्यार ना करूं मैं तुम्हें प्यार ना करूं तुम कम सिन हो नादा हो नाजुक हो भोली हो सोचता हूँ मैं तुम्हें प्यार ना करूं मैं तुम्हें प्यार ना करूं 1964 की सालाना गीत माना की पायदान नंबर चार पर भी इसी फिल्म का गीत था और फिल्म के शानदार प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश और बड़े ही गुणी डायरेक्टर मोहन कुमार भी फिल्मी दुनिया की उन सैकड़ों हस्तियों में शामिल हैं जिनके लिए उनके सारे फैंस ही नहीं बल्कि सभी दोस्त भी हमेशा यही दुआ मांगते हैं तुमको हमारी उम्र लग जाए तुमको हमारी साहब अब आया वो गीत जो दो वर्षों की लोकप्रियता में बढ़ जाने के बावजूद उस साल गीतमाला की वार्षिक पायदान नंबर तीन तक पहुंच गया फिल्म का नाम मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम फिर मुझे नर किसी आंखों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम और 1964 की दो टॉप के पायदानों पर राज किया था एक ही गजब की फिल्म संगम के दो हिट गीतों ने तो आइए गीतों से पहले दोनों के लिए एक साथ बजा दें गीतमाला की सालाना संगीत चोड़ी की चोटी का बिगुल